शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और अगर मोमिनों में से कोई दो फरीक आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह करा दो फिर अगर एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू लाए बस जब वो रुजू लाए तो दोनों फरीक में अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ से काम लो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए मोमिनो मर्द मर्दों से तमस्खुर न करें मुमकिन है कि वो लोग जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है इनसे बेहतर हों और न औरतें औरतों से तमस्खुर करें मुमकिन है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं इनसे अच्छी हों और अपनों को आपस में ऐब न लगाओ और न एक दूसरे का बुरा नाम रखो ईमान लाने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है और जो लोग तौबा न करें वो जालिम हैं ऐ अहले ईमान बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह है और एक दूसरे के हाल का तजस्स न किया करो और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे तो गीबत ना करो और अल्लाह का डर रखो बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है मेहरबान है लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है सबसे खबरदार है देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए बल्कि यूं कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और ईमान तो अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ कमी नहीं करेगा बेशक अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए फिर शक में न पड़े और उन्होंने अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद किया यही लोग ईमान के सच्चे हैं इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को अपनी दीनदारी जताते हो और अल्लाह तो आसमानों और जमीन की सब चीजों से वाकिफ है और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है ये लोग तुम पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हो गए कह दो कि अपने मुसलमान होने का मुझ पर एहसान न रखो बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान का रास्ता दिखाया बशर्ते कि तुम सच्चे मुसलमान हो बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है और जो कुछ तुम करते हो उसे देखता है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है ऑफ कुरान मजीद की कसम के तुम पैगंबर हो असल बात यह है कि इन लोगों ने ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक खबरदार करने वाला इनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि यह बात तो बड़ी अजीब है भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे ये जिंदा होना अकल से बईद है इनके जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है बल्कि अजीब बात यह है कि जब इनके पास दीन हक आ पहुंचा तो इन्होंने उसको झूठ समझा सो ये एक उलझी हुई बात में पड़े हैं क्या इन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसे बनाया और सजाया और उसमें कोई शिगाफ तक नहीं और जमीन को देखो इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बाग उगाए और खेती का अनाज और लंबे लंबे खजूर के दरख्त जिनका गाभा तह बतह होता है ये सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है और इस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया बस इसी तरह क्यामत के रोज निकल पड़ना है इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद वाले लोग झुटला चुके हैं और आद और फिरौन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम गरज हर एक ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी धमकी भी पूरी होकर रही तो क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए नहीं बल्कि ये असर नौ पैदा करने के बारे में शक में पड़े हुए हैं और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम तो रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठे हैं लिख लेते हैं कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास लिख लेने को तैयार रहता है और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई ए इंसान यही वो हालत है जिससे तू भागता था और सूर फूका जाएगा यही अजाब की धमकी का दिन है और हर शख्स हमारे सामने इस हाल में आएगा कि एक फरिश्ता उसके साथ हांकने वाला होगा और एक उसके अमाल की गवाही देने वाला ये वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है और उसका हम नशी फरिश्ता कहेगा कि ये आमाल नामा मेरे पास तैयार है हुक्म होगा कि हर सरकश शुक्रे को दो जख्म डाल दो जो माल में बुखल करने वाला हद से बढ़ने वाला शुबे निकालने वाला था जिसने अल्लाह के साथ और मबूद मुकर्र कर रखे थे तो उसको सख्त अजाब में डाल दो उसका साथी शैतान कहेगा कि अय हमारे परवरदिगार मैंने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था अल्लाह कहेगा कि मेरे हुजूर में रद्दोकद न करो मैं तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुका था मेरे यहां बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं उस दिन हम दोजक से पूछेंगे कि क्या तू भर गई वो कहेगी कि कुछ और भी है और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि उनसे मुतलक दूर न होगी यही वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था यानी हर रुजू लाने वाले हिफाजत करने वाले से जो रहमान से बिन देखे डरता रहा और रुजू करने वाला दिल लेकर आया उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ ये हमेशा रहने का दिन है वहां जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर होगा और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली वो लोग इनसे कुत में कहीं बढ़कर थे फिर वो शहरों में गश्त करने लगे क्या कहीं भागने की जगह है जो शख्स दिले आगाह रखता है या दिल से मुतवजह होकर सुनता है उसके लिए इसमें नसीहत है और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकत इनमें है सबको छह दिन में बना दिया और हमको जरा भी थकन नहीं हुई तो जो कुछ ये कुफ्फार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफ्ताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्वीर करते रहो और रात के बाद औकात में भी और नमाज के बाद भी उसी के नाम की तस्बीह किया करो और सुनो जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा जिस दिन लोग एक जोर की आवाज यकीनन सुन लेंगे वही निकल पड़ने का दिन होगा हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे इस तरह से जमा करना हमें आसान है ये लोग जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम इन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो बस जो मेरे अजाब की धमकी से डरे उसको कुरान के जरिए नसीहत करते रहो शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है बखेरने वाली हवाओं की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं फिर पानी का बोझ उठाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं फिर उस चीज को यानी बारिश को तकसीम करती हैं कि जो वादा तुमसे किया जाता है वो यकीनन सच्चा है और इंसाफ का दिन जरूर वाक होगा और आसमान की कसम जिसमें कई रस्ते हैं कि अहले मक्का तुम्हें एक इख्तिलाफ वाली बात में पड़े हुए हो उससे यानी अकीदा आखिरत से वही फिरता है जो अल्लाह की तरफ से फेरा जाए अटकल दौड़ाने वाले हलाक हों जो बेखबरी में भूले हुए हैं पूछते हैं कि जजा का दिन कब होगा वो दिन होगा जब उनको आग में अजाब दिया जाएगा अब अपनी शरारत का मजा चखो ये वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे बेशक परहेजगार बहिश्तों और चश्मों में होंगे और जो जो नेमतें उनका परवरदिगार उन्हें देता होगा उन्हें ले रहे होंगे बेशक वो इससे पहले नेकियां करते थे रात के थोड़े से हिस्से में सोते थे और सुबह के औकात में बख्शिश मांगा करते थे और उनके माल में मांगने वालों और न मांगने वालों दोनों का हक होता है और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारी जानों में तो क्या तुम देखते नहीं और तुम्हारा रिस्क और जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है तो आसमान और जमीन के मालिक की कसम ये उसी तरह काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो ए नबी क्या तुम्हारे पास इब्राहिम के मुआज मेहमानों की खबर पहुंची है जब वो उनके पास आए तो सलाम कहा उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा देखा तो ऐसे लोग कि न जान न पहचान फिर वो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया कहने लगे कि आप तनावल क्यों नहीं फरमाते और उनसे खौफ महसूस किया उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए और उनको एक दानिशमंद लड़के की बिशारत सुनाई तो इब्राहिम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी कि एक तो मैं बुढ़िया ऊपर से बांझ उन्होंने कहा तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है वो बेशक साहिब हिकमत है खबरदार है इब्राहिम ने कहा कि फरिश्तो अब तुम्हारा असल काम क्या है उन्होंने कहा कि हम गुनाहगारों की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर गारे की पथरियां बरसाएं जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए हैं बस वहां जितने मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया फिर उस बस्ती में हमने एक घर के सिवा मुसलमानों का कोई घर न पाया और जो लोग अजाब अलीम से डरते हैं उनके लिए हमने वहां निशानी छोड़ दी और मूसा के हाल में भी निशानी है जब हमने उनको फिरौन की तरफ खुला हुआ मोजा देकर भेजा तो उसने अपनी कुत के घमंड पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो जादूगर है या दीवाना तो हमने उसको और उसके लश्करों को पकड़ लिया और उनको समंदर में फेंक दिया और वो काम ही काबिल मलामत करता था और आद की कौम के हाल में भी निशानी है जब हमने उन पर नामुबारक हवा चलाई वो जिस चीज पर चलती उसको रेजा रेजा किए बगैर न छोड़ती और कौम समूद के हाल में भी निशानी है जब उनसे कहा गया कि एक वक्त तक फायदा उठा लो बस उन्होंने अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की सो उनको कड़क ने आ पकड़ा और वो देख रहे थे फिर वो न तो खड़े रहने की ताकत रखते थे और न मुकाबला कर सकते थे और उससे पहले हम नूह की कौम को हलाक कर चुके थे बेशक वो नाफरमान लोग थे और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया और हमको हर तरह की कुदरत है और जमीन को हम ही ने बिछाया तो देखो हम क्या खूब बिछाने वाले हैं और हर चीज के हमने दो दो जोड़े बनाए ताकि तुम नसीहत हासिल करो तो तुम लोग अल्लाह की तरफ दौड़ चलो मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं और अल्लाह के साथ किसी और को मबूद ना बनाओ मैं उसकी तरफ से तुमको साफ साफ खबरदार करने वाला हूं इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास भी जो पैगंबर आता तो वो भी उसको जादूगर या दीवाना कहते क्या ये लोग एक दूसरे को इसी बात की वसीयत कर मरे हैं नहीं बल्कि ये शरीर लोग हैं तो ए नबी इनसे मुंह मोड़ लो तुमको हमारी तरफ से मलामत ना होगी और नसीहत करते रहो कि नसीहत मोमिनों को नफा देती है और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसीलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें मैं उनसे रिस्क तो नहीं मांगता और न ये चाहता हूं कि वो मुझे खाना खिलाएं अल्लाह ही तो सबको रिस्क देने वाला है जोर आवर है मजबूत है सो कुछ शक नहीं कि इन जालिमों के लिए भी अजाब की नौबत मुकर्र है जिस तरह इनके साथियों की नौबत थी तो इनको मुझसे अजाब जल्दी नहीं तलब करना चाहिए फिर जिस दिन का इन काफिरों से वादा किया जाता है उससे इनके लिए खराबी है शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है कोहे तूर की कसम और उस किताब की जो लिखी हुई है कुशादा वरक में और आबाद घर की और ऊंची छत की और जोश मारते समंदर की कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक़ होकर रहेगा और उसको कोई रोक नहीं सकेगा जिस दिन आसमान लरजने लगे कप कपा कर और पहाड़ सचमुच उड़ने लगे तो उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी जो बेकार बातों में पड़े खेल रहे हैं जिस दिन उनको आतश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे और कहा जाएगा यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता इसमें दाखिल हो जाओ और सब्र करो या ना करो तुम्हारे लिए यकसा है जो काम तुम किया करते थे ये उन्हीं का तुमको बदला मिल रहा है जो परहेजगार हैं वो बागों और नेमतों में होंगे जो कुछ उनके परवरदिगार ने उनको बख्शा उसकी वजह से वो खुशहाल होंगे और उनके परवरदिगार ने उनको दोजक के अजाब से बचा लिया कहा जाएगा कि अपने अमाल के सिले में मजे से खाओ और पियो तख्तों पर जो बराबर बराबर बिछे हुए हैं तकिए लगाए हुए होंगे और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों को हम उनकी बीवियां बना देंगे और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी राह ईमान में उनके पीछे चली हम उनकी औलाद को भी उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके अमाल में से कुछ कम न करेंगे हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है और जिस तरह के मेवे और गोश्त को उनका जी चाहेगा हम उनको अता करेंगे वहां वो जाम शराब की छीना झपटी करेंगे जिसके पीने से न कोई लव बात होगी और न कोई गुनाह का काम और नौजवान खिदमतगार जो ऐसे होंगे जैसे छुपाए हुए मोती जो उनके आसपास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में गुफ्तगु करेंगे कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर में अल्लाह से डरते रहते थे तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया और दोजख की गर्म हवा के अजाब से हमें बचा लिया इससे पहले हम उसे पुकारा करते थे बेशक वो एहसान करने वाला है मेहरबान है तो ए पैगंबर तुम नसीहत करते रहो तुम अपने परवरदिगार के फजल से न तो काहिन हो और न दीवाने क्या काफिर यह कहते हैं कि यह शायर है और हम इसके लिए जमाने की गर्दिश का इंतजार कर रहे हैं कह दो कि इंतजार किए जाओ मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं क्या इनकी अकलें इनको यही सिखाती हैं या ये लोग हैं ही शरीर क्या कुफार ये कहते हैं कि इन पैगंबर ने कुरान अस खुद बना लिया है बात यह है कि ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते अगर ये सच्चे हैं तो ये भी ऐसा कलाम बना लाएं क्या ये किसी के पैदा किए बगैर ही पैदा हो गए हैं या ये अपने आप को खुद पैदा करने वाले हैं या इन्होंने आसमानों और जमीन को पैदा किया है नहीं बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार के खजाने हैं या ये कहीं के दारोगा हैं या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आसमान से बातें सुनाते हैं तो जो सुनकर आता है वो खुली सनद लेकर आए क्या अल्लाह की तो हों बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे ए पैगंबर क्या तुम इनसे कोई मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है या इनके पास गैब का इल्म है कि ये उसे लिख लेते हैं क्या ये कोई दांव करना चाहते हैं तो काफिर तो खुद दांव में आने वाले हैं क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई और मबूद है अल्लाह तो इनके शरीक बनाने से पाक है और अगर ये आसमान का कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो कहें कि ये एक तह बतह बादल है बस इनको छोड़ दो यहां तक कि ये उस रोज का सामना कर लें जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे जिस दिन इनका कोई दांव कुछ भी काम ना आएगा और न इनको कहीं से मदद ही मिलेगी और जालिमों के लिए इसके सिवा और भी आजाब है लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते और तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो तुम तो हमारी आंखों के सामने हो और जब उठा करो तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह किया करो और रात के बाद औकात में भी और सितारों के गुरूब होने के बाद भी उसकी तस्बीह किया करो शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है सितारे की कसम जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक यानी हमारे नबी न रास्ता भूले हैं न भटके हैं और न ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ बोलते हैं ये कुरान तो एक वही है जो इनकी तरफ भेजी जाती है इनको निहायत कुत वाले ने सिखाया यानी जिब्राइल ने जो ताकतवर हैं फिर वो पूरी तरह बैठे जबकि वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे फिर वो करीब हुए फिर मजीद नीचे आ गए तो वो दो कमान के फासले पर हो गए या इससे भी कम फिर अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ जो हुक्म भेजा सो भेजा जो कुछ उन्होंने देखा उनके दिल ने उसको झूठ न जाना क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम उसमें उनसे झगड़ते हो और उन्होंने उसको यानी जिब्राइल को एक और बार भी उतरते देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास उसी के पास हमेशा रहने की बहिश्त है जबकि उस बेरी पर छा रहा था जो छा रहा था उनकी आंख न तो और तरफ माइल हुई और न हद से आगे बढ़ी उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की बहुत ही बड़ी बड़ी निशानियां देखी भला तुम लोगों ने लात और उज्जा को देखा और तीसरी मूर्ति यानी मनात को मुशरिको क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हों और अल्लाह के लिए बेटियां ये तो बहुत ही बेइंसाफी की तकसीम हुई वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं अल्लाह ने तो उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की ये लोग महज ख्याल और गुमान और ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चल रहे हैं हालांकि इनके परवरदिगार की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है क्या जिस चीज की इंसान आरजू करता है वो उसे जरूर मिलती है सो आखिरत और दुनिया तो अल्लाह ही के हाथ में है और आसमानों में बहुत से फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फायदा नहीं देती मगर उस वक्त कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इजाजत बख्शे और सिफारिश पसंद भी करे जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो फरिश्तों को लड़कियों के नाम से मौसूम करते हैं हालांकि उनको इसकी कुछ खबर नहीं वो सिर्फ ख्याल गुमान पर चलते हैं जबकि ख्याल गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं आता तो जो हमारी याद से रू गर्दानी करे और सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी का खहा हो उससे तुम भी मुंह फेर लो उनके इल्म की यही इंतहा है तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उससे भी खूब वाकिफ है जो रस्ते पर चला और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है और उसने खलकत को इसलिए पैदा किया है कि जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको उनके अमाल का बदला दे और जिन्होंने नेकियां की उनको नेक बदला दे जो सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों से इज्तनाब करते हैं बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ी बख्शिश वाला है वो तुमको खूब जानता है जब उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे तो अपने आप को पाक साफ ना जताओ जो परहेजगार है वो उससे खूब वाकिफ है भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया और थोड़ा सा दिया फिर हाथ रोक लिया क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो उसे देख रहा है क्या जो बातें मूसा के सहीफों में हैं उनकी उसको खबर नहीं पहुंची और इब्राहिम के सहीफों की जिन्होंने हक के तात और रिसालत पूरा किया वो ये कि कोई शख्स दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और ये कि तुम्हारे परवरदिगार ही के पास पहुंचना है और ये कि वही दोनों जोड़े यानी नर और मादा पैदा करता है यानी नुतफे से जो रहम में डाला जाता है और ये कि क्यामत को दोबारा उठाना उसी का जिम्मा है और ये कि वही दौलतमंद बनाता और वही मुफलिस करता है और ये कि वही शेरा नामी तारे का भी मालिक है और ये कि उसी ने आदि अव्वल को हलाक कर डाला और समूद को भी गरज किसी को बाकी न छोड़ा और उनसे पहले कौम नूह को भी कुछ शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे और उसी ने उल्टी हुई बस्तियों को दे पटका फिर उन पर जो चीज छा गई सो छा गई तो ए इंसान तू अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत पर झगड़ेगा ये पैगंबर भी पहले के खबरदार करने वालों में से एक खबरदार करने वाले हैं आने वाली यानी कयामत करीब आ पहुंची उस दिन की तकलीफों को अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकेगा ए काफिरो क्या तुम इस कलाम पर ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं और तुम गफलत में पड़े हो तो अल्लाह के आगे सजदा करो और उसी की इबादत करो क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है कयामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि यह एक पहले से चला आता जादू है और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की और हर काम का वक्त मुकर्र है और उनको ऐसे वाकयात की खबरें पहुंच चुकी हैं जिनमें इबरत है और कामिल दानाई की किताब भी लेकिन डरावे उनको कुछ फायदा नहीं देते तो तुम भी उनकी कुछ परवाह ना करो जिस दिन बुलाने वाला उनको एक नागवार चीज की तरफ बुलाएगा फौरन आंखें नीची किए हुए कब्रों से निकल पड़ेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियां हों उस बुलाने वाले की तरफ दौड़ते जाते होंगे काफिर कहेंगे यह दिन बड़ा सख्त है इनसे पहले नूह की कौम ने भी तकजीब की थी तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा कि दीवाना है और उन्हें डांटा भी गया तो उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मैं इनके मुकाबले में कमजोर हूं बस तू ही बदला ले ले बस हमने जोर के मे से आसमान के दहाने खोल दिए और जमीन में चश्मे जारी कर दिए तो पानी एक काम के लिए जो मुकद्दर हो चुका था जमा हो गया और हमने नूह को एक कश्ती पर जो तख्तों और मेखों से तैयार की गई थी सवार कर लिया वो हमारी आंखों के सामने चलती थी यह सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे और हमने उस कश्ती को एक निशानी बना छोड़ा तो कोई है कि सोचे समझे सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि सोचे समझे कौम आद ने भी तकजीब की थी सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ हमने उन पर एक रहती नहुसत के दिन में जबरदस्त आंधी छोड़ दी वो लोगों को इस तरह उखेड़ी डालती थी गोया उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि सोचे समझे कौम समूद ने भी खबरदार करने वालों को झुटलाया तो कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है हम उसकी पैरवी करें यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है नहीं बल्कि यह झूठा बड़ाई मारने वाला है इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा बड़ाई मारने वाला है ए साले हम इनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं तो तुम इनको देखते रहो और सब्र करो और इनको आगाह कर दो कि इनमें पानी की बारी मुकर्र कर दी गई है हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए तो उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया और उसने ऊंटनी को पकड़ लिया फिर उसे मार डाला सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ हमने उन पर अजाब के लिए एक जोर की आवाज भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की चूरा चूरा हो जाने वाली बाढ़ और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि सोचे समझे लूत की कौम ने भी डर सुनाने वालों को झुटलाया था तो हमने उन पर कंकर भरी हवा चलाई मगर लूत के घर वाले कि हमने उनको पिछली रात के वक्त बचा लिया अपने फजल से शुक्र करने वाले को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं और लूत ने उनको हमारी पकड़ से डरा भी दिया था मगर उन्होंने डराने में शक किया और उनसे उनके मेहमानों को ले लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें मिटा दी सो अब मेरे अजाब और डराने के मजे चखो और उन पर सुबह सवेरे ही ठहर जाने वाला अजाब आनाजिल हुआ तो अब मेरे अजाब और डरावों के मजे चखो और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है तो कोई है कि सोचे समझे और कौम फिरौन के पास भी डर सुनाने वाले आए थे उन्होंने हमारी तमाम निशानियों को झुटलाया तो हमने उनको इस तरह पकड़ लिया जिस तरह एक कवि और गालिब शख्स पकड़ लेता है ए अहले अरब क्या तुम्हारे काफिर इन लोगों से बेहतर हैं या तुम्हारे लिए पहली किताबों में अजाब से कोई छुटकारा लिख दिया गया है क्या ये लोग कहते हैं कि हमारी जमात बड़ी मजबूत है अन करीब ये जमात शिकस्त खाएगी और ये लोग पीठ फेर फेर कर भाग जाएंगे असल में इनके वादे का वक्त तो क्यामत है और क्यामत बड़ी सख्त और बहुत तलख होगी बेशक गुनाहगार लोग गुमराही और दीवानगी में मुबतला है उस रोज मुंह के बल दोजख में घसीटे जाएंगे कहा जाएगा लो अब आग का मजा चखो हमने हर चीज अंदाजा मुकर्र के साथ पैदा की है और हमारा हुक्म तो आग के झपकने की तरह एक बात होती है और हम तुम्हारे हम मजहबों को हलाक कर चुके हैं तो कोई है कि सोचे समझे और जो कुछ उन्होंने किया उनके अमाल नामों में दर्ज है यानी हर छोटा और बड़ा काम लिख लिया गया है जो परहेजगार हैं वो बागों और नहरों में होंगे यानी सच्ची बैठक में हर तरह की कुदरत रखने वाले बादशाह की बारगाह में शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है वो जो निहायत मेहरबान है उसी ने कुरान की तालीम फरमाई उसी ने इंसान को पैदा किया उसी ने उसको बोलना सिखाया सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्र से चल रहे हैं और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान आदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई उसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल तो ए ग्रोहे जिन्नो इंस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे वही दोनों मशरकों और दोनों मगरिबों का मालिक है तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे ए दोनों जमातों हमन करीब तुम्हारी तरफ मुतवजे होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे ए गिरोहे जिन इंस अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे तुम पर आग के शोले साफ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे फिर जब आसमान फट कर तेल की तलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे तो उस रोज न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे गुनागार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाते थे वो दोजख और खोलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनमें दो चश्मे बह रहे हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे अहले जन्नत ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बाहों के मेवे करीब झुक रहे हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे गोया वो याकूत और मरजान है तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे